ग्यारहवीं जो भी मस्जिद जाता है और आराम देता खुदा ने इसे जन्नत से अपने नजूल से वदा किया जैसा कि वो कल है अब वो आपको देखेंगे अगर आप आपके बाप के बाप की रास्तबाजी हैं तो क्या वो कुछ भी रहेगा उन्होंने कहा इसके वक्त का कुछ बाकी नहीं बचा है उन्होंने कहा पांचवीं दुआओं की तरह ही है